वही है जो जिंदगी देता है और जो मौत देता है फिर जब वो किसी काम का फैसला करता है तो उसे सिर्फ यही कहता है हो जा बस वो हो जाता है